और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई कुफार की तरफ चली जाए तो तुम उनके शोहरों को बदला दो चुनाचे जिनकी बीवियां चली गई हैं उन्हें इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया है और अल्लाह ताला से डरो वो ज़ात के जिस पर तुम ईमान रखने वाले हो